इम्पॉसिबल तुम बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर अशोक ने बिल्कुल शॉक्ड होते हुए कहा उसने फिर विक्रांत की तरफ इशारा करके चिल्लाते हुए कहा ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तुम सब गलत है तुम सब लोग मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कितनी दुखद कहानी है ना बासु लहरी कितने सालों तक इस वर्कला बीच पर बिना किसी बच्चे के रह रही थी और फिर वहां पर वजाहत अली आता है और वो बाजी जीत कर चला जाता है भले ही आज वजाहत अली इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी वो जहाँ भी होगा चैन से होगा कम से कम उसका बेटा तो अभी तक जिंदा है विक्रांत ने बिना किसी संकोच के अशोकन की इज्जत की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था ऐसे में अशोकन का गुस्से में लाल पीला होना जायज था उसने विक्रांत की तरफ गुस्से से लाल आंखों से देखकर चिल्लाते हुए कहा तुम बास्टर्ड है बास्टर्ड तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बारे में ऐसा बात करने का तुमको मैं छोड़ेगा नहीं जिंदा नहीं छोड़ेगा फिर उसने सीनियर ऑफिसर पी के मधु की तरफ देख कर चिल्लाते हुए कहा सर ये सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहा है सब प्लानिंग कर रखा है पी के साहब बिल्कुल सन्न खड़े थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अभी तक विक्रांत का फोन ही देख रहे थे तुम खुद अपना दिमाग लगाओ भला मुझे इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन बनाकर तुम्हें दिखाने से क्या मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन तो केस के लिए उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है मुझे बस केस से मतलब है इससे मतलब नहीं है कि तुम किसके बच्चे हो समझे विक्रांत ने कहा लेकिन हाँ अब तो मुझे भी थोड़ी दिलचस्पी हो रही है अच्छा तुम्हारी माँ को तो पता था ना कि तुम किसके बेटे हो ये उसे भी नहीं पता इंस्पेक्टर अशोक गुस्से में आकर कांपने लगे अगर इस वक्त उसे पुलिस वालों ने पकड़ना रखा होता अब तक वो विक्रांत के ऊपर टूट पड़ा होता मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ के ऐसे बहुत से सीक्रेट है जिसके बारे में उसने अभी तक तुम्हें भी नहीं बताया है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए अशोकन से कहा सच बताऊं तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस मर्डर केस के तुम मेन मुजरिमी नहीं हो बल्कि तुम्हारी माँ बासु लहरी असली मुजरिम है लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं बहुत जल्दी ये पता लगा लूंगा कि तुम इस केस में कितना इन्वॉल्व थे बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि तुम असली मुजरिम हो या फिर तुम सिर्फ अपनी माँ का साथ दे रहे हो चुप करो तुम बस चुप करो अशोकन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा इसी वक्त सीनियर ऑफिसर पी के मधु साहब ने विक्रांत को फोन पकड़ा दिया और फिर कहा अशोकन ये डीएनए डीएनए रिपोर्ट तो हम्म, अशोक ने बेहद एक्साइटेड होते हुए फोन अपने हाथ में लिया और फिर ध्यान से इसे देखने लग गया तुम्हें पता होना चाहिए अब पी के साहब ने बोलना शुरू किया अगर फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी और वो कोई मामूली फॉरेंसिक टीम नहीं है सेंट्रल फॉरेंसिक टीम है ये लोग किसी के कहने पर या प्रेशर में आकर फेक डीएनए रिपोर्ट नहीं बनाएंगे किसी भी हालत में नहीं बनाएंगे पीके सर आप क्या बोल रहा है अशोक ने पीके साहब की तरफ असमंजस भरी नजरों से देखते हुए कहा फॉरेंसिक टीम वाले झूठ नहीं बोल रही है ना उन लोगों ने फेक रिपोर्ट दी है मैं तो ये कह रही है कि ये विक्रांत झूठ बोल रही है आप मेरा बिलीव करो ये जानबूझकर मुझे फंसा रही है मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं लाइट हाउस कपल का बेटा हूँ और मेरी गलती है कि मैंने बात आप लोगों से छुपा कर रखी थी लेकिन सर प्लीज़ आप मेरा बिलीव करो मैंने किसी का मर्डर नहीं की है रियली पी के साहब को सेकंड तक शांत खड़े होकर अशोकन की बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने धीरे से कहा अच्छा ठीक है फिर ये बताओ क्राइम वाली रात तुम्हारी मदर कहाँ थी इंस्पेक्टर अशोक ने पी के साहब की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया आप सर आप भी मुझ पर शक कर रहा है मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ पीके साहब ने चिल्लाते हुए कहा लेकिन जब तुम मुझे ये बताओगे तभी तो मैं तुम्हारे लिए एविडेंस ढूंढ सकता हूँ अगर तुम दोनों के पास कोई गवाह है जो ये प्रूव कर सकता है कि तुम दोनों उस रात कहाँ थे तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता सो so प्लीज तुम जल्दी मुझे बताओ कि मर्डर वाली रात तुम और तुम्हारी मदर कहाँ थी इंस्पेक्टर hmm, अशोक ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर कहा हम दोनों उस रात घर पर ही थे रोजाना की तरह हम आराम से सो रहे थे घर पर थे ना और कहीं तो नहीं पी के सामने अशोकन से कंफर्म करते हुए कहा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा ओके okay, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग तुम्हारे घर के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज चेक कर सकते हैं उसमें तुम्हारे आने का और जाने का टाइम पता चल जाएगा ओके पीके साहब ने तो अशोकन के लिए स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश की लेकिन ना जाने क्यों ये सुनकर अशोकन कांप उठा वैसे एक चीज और है पीके साहब ने अचानक से अपने चेहरे का भाव बदलते हुए कहा तुम्हारी स्पीड बोट अभी कहाँ है सर आप आप अचानक से मानो अशोकन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो गहरे सदमे में चला गया हो अशोकन तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि हम केस सिर्फ एविडेंस के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं पीके साहब ने अशोकन को समझाते हुए कहा सो प्लीज मुझे स्पीड बोट के बारे में बताओ ताकि हम लोग तुम्हें पूरी तरह से बेकसूर साबित कर सके जब अशोकन ने पी के साहब के शब्द सुने तो फिर अशोकन के चेहरे से अचानक से गुस्से का भाव गायब हो चुका था और गुस्से की जगह पर अब उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे का भाव दिखाई दे रहा था ओके कोई बात नहीं ठीक है पी के साहब ने अशोकन की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं हम खुद ही सब पता कर लेंगे अभी तुम पुलिस स्टेशन चलो हुँ? हम्म? इसके बाद पी के साहब ने विक्रांत की तरफ पलट कर देखते हुए कहा विक्रांत जी हो गया ना अब और कुछ तो नहीं है ना नहीं विक्रांत रफी के साहब की तरफ देखते हुए कहा हालांकि उसके चेहरे के भाव से साफ समझ आ रहा था कि अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ है विक्रांत को तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ऑफिसर पी के साहब भी इतने बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं उन्होंने अशोकन से सिर्फ दो ही सवाल किए थे लेकिन उन दोनों सवाल का जवाब देने में अशोकन के पसीने छूट गए ये दोनों सवाल ही अशोकन की कहानी का सबसे कमजोर पार्ट था अगर अशोकन और उसकी माँ बासु लहरी वाकई में इस क्राइम में इन्वॉल्व थी तो वो दोनों क्राइम सीन पर बहुत पहले ही पहुंच गई रही होंगी ऐसे में अगर पुलिस ये साबित कर दे कि मर्डर वाली रात अशोकन वर्कला बीच के क्राइम लोकेशन पर था तो फिर ये केस एक झटके में क्लोज और दूसरी चीज अगर अशोकन भी अब ये साबित नहीं कर पाता कि मर्डर वाली रात वो अपनी माँ के साथ घर में था तो भी उसका काम तमाम कुल मिलाकर अशोकन फंसता जा रहा था दूसरा सवाल पीके साहब ने उसके बोट के बारे में किया था जो कि अपने आप में बेहद अहम सवाल था किसी भी क्राइम में ट्रांसपोर्ट का माध्यम बहुत बड़ा एविडेंस होता है इस केस में अशोकन की स्पीड बोट भी काफी अहम रोल निभा सकता है पहली बात तो विक्रांत को अभी तक ये पता नहीं था कि इंस्पेक्टर अशोकन के पास खुद का स्पीड बोट है अभी पीके साहब के सवाल के बाद उसे ये बात पता चली है ऐसे में अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का और भी रास्ता खुल गया है आगे वो अपनी टीम के साथ मिलकर अशोकन की इस स्पीड बोट की भी हिस्ट्री निकालने वाला है पीके साहब ने विक्रांत का काम आसान कर दिया था भले ही पीके साहब कई सालों से अशोकन के साथ काम कर रहे हैं लेकिन इस वक्त वो अशोकन के साथ जरा सा भी रियायत नहीं कर रहे थे विक्रांत अब पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी निश्चिंत था उसे अब यकीन हो गया था कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद अशोकन की मुश्किल और बढ़ने वाली है हालांकि विक्रांत को थोड़ा निराशा भी हो रही थी उसे ये सोचकर थोड़ा दुख हो रहा था कि उसके इतने सवाल के बाद भी अशोकन जरा सा भी नहीं हिला लेकिन पी के साहब के मात्र दो सवाल ने अशोकन के होश उड़ा दिए थे उसके चेहरे पर अब साफ तौर पर डर का भाव देखा जा सकता था अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से विक्रांत के कानों में अशोकन के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी अब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसे एक बार के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ ये कैसे हो गया ओह इंस्पेक्टर अशोकन ने न सिर्फ अपनी हथकड़ी छुड़ा ली थी बल्कि उसने अपने हाथ में एक बंदूक लेकर इसे पी के साहब के निशाने पर लगा रखा था हिलना मत कोई एक कदम भी हिला तो मैं शूट कर देगा अशोक ने पी के साहब की तरफ बंदूक रखते हुए कहा वहाँ मौजूद पुलिस वाले भी बिल्कुल तंग रह गए सब आनंद फानंद में अपनी पोजीशन लेने लग गए क्या कर रहे हो बंदूक नीचे करो तुम पागल हो गए हो क्या अशोकन पी के साहब बिल्कुल शॉक रह गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा तुम्हें पता है ना अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो फिर तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगी कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा मुझे पता है मुझे अब कोई नहीं बचा सकती अशोकन ने चिल्लाते हुए कहा इसके साथ ही उसने अशोकन को धक्का देते हुए बोट से बाहर ले जाने की कोशिश भी शुरू कर दी बाकी के पुलिस वाले दंग होकर अशोकन को देख रहे थे और सभी ने अपनी बंदूक का निशाना अशोकन के ऊपर लगा रखा था विक्रांत और हर्षित भी एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरत में तो थे साथ में उन्हें इस बात की थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि अशोक ने पुलिस के आगे अपना असली रंग दिखा दिया इसका मतलब ये था कि विक्रांत और हर्षित की पहले की मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं हुई विक्रांत ने मन ही मन कहा जो कोई भी मेरा क्रेडिट लेने की कोशिश करता है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता आप देखो ये बेचारे पी के साहब भी फंस गए ना